सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इंद्र इंद्र वच वृत्रासुर के वचनों को श्रुत्वा सुनकर गता लेका बिना कपट के अपूजयात प्रशंसा किए गृहित वज्र वज्र को अपने हाथ में लेकर प्रहसन हंसते हुए ताम वृत्रासुर से आह बोले गत विस्मय वृत्राशु के विषय में उनका विस्मय अर्थात आश्चर्य खत्म हो चुका था तो इस प्रसंग के पूर्व हम लोग कल सुने थे किस प्रकार वृत्रासुर की भुजा कट गई है और वे भगवान इंद्र को प्रेरित कर रहे हैं कि आप वज्र उठाइए और मेरा वध कीजिए आप इस चिंता में मत पड़िए कि आपके हाथ से वज्र गिर गया आप हार रहे हैं कभी भी किसी व्यक्ति की जीत हो सकती है किसी की भी हार हो सकती है केवल एक ही पुरुष है वो है भगवान विष्णु जिनकी कभी भी हार नहीं होती है वो सदा जीतते हैं और और जो कुछ संसार में होता है उनकी इच्छा से होता है अतः आप प्रयास कीजिए तो इस प्रकार भगवत भक्ति का भगवान की महिमा का निरूपण वृत्रासुर जी ने किया खुल करके सब युद्ध के मैदान में इस बात को सुनकर इंद्रदेव का विस्मय चला गया क्योंकि वृत्रासुर ने जो गदा चलाया था उस समय और इसके बाद परिघ चलाया था उससे वज्र गिर पड़ा था इंद्र के हाथ से तो बहुत आश्चर्य में इंद्रदेव पड़ गए थे कि कौन व्यक्ति है इतना कैसे इसमें बल है बहुत आश्चर्य हो रहा था लेकिन जब वृत्रासुर के वचनों को उन्होंने सुना तब उनका विस्मय चला गया समझ गए कि ये सब भगवत भक्ति के कारण हो रहा है इतना जो बल बढ़ा हुआ है और इतना दिव्य ज्ञान शुद्ध है तो उनका विस्मय में चला गया और वे वृत्र वच श्रुतवा वृत्रासुर के वचनों को सुनकर अपूजयत पूजा किए पूजा करने का मतलब कि भूरी भूरी प्रशंसा किए बहुत धन्यवाद दिए और निष्कपट भाव से धन्यवाद दिए गत अलीकम अलीक का अर्थ होता है कपट कपट छोड़कर भगवान इंद्र ने युद्ध के मैदान में वृत्रासुर जी की प्रशंसा किया अथवा वृत्रासुर के वचन निष्कपट भाव से थे तो वृत्रासुर की बात को सुनकर गृहित वज्र इंद्र ने वज्र ले लिया हाथ में जो नीचे गिर गया था उसको उठाया उठाने में उन्हें लज्जा नहीं आई प्रहसन हंसते हुए बड़ी खुशी के साथ तम आह वृत्रासुर से इस प्रकार बोले यह बहुत ध्यान देना चाहिए कि स्वर्ग के राजा जिनको सारा भोग प्राप्त है वे एक असुर की प्रशंसा कर रहे हैं और स्पष्ट है कि वे अपने में वह उस भाव का अभाव देख रहे हैं जो वृत्रासुर में है तो भगवान इंद्र युद्ध में प्रशंसा कर रहे हैं वृत्रासुर की इंद्र उच इंद्रदेव बोले अहो दानव सिद्धो श्री जस्यते मतिरिदृशी भक्त सर्वात्मनात्मान सुहृदम जगदीश्वरम अहो कितने आश्चर्य की बात है और प्रसन्नता की बात है कि दानव वंश में जन्म लेकर के भी तुमने भगवान की बहुत भक्ति किया है सिद्ध हो गए शास्त्रों में सिद्ध उसको कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्ण पारंगत है वास्तविक सिद्ध उसको कहते हैं वैसे यह बताया जाता है कि जो काम क्रोध लोभ मद मोह से मुक्त हो जाता है और स्पिरिचुअल धरातल पर हो जाता है उस व्यक्ति को सिद्ध कहते हैं परंतु शास्त्रों के आलोचना से विमर्श से यह पता चलता है कि वास्तव में सिद्ध है भगवान के भक्त को कहा जाता है सिद्ध का अर्थ परफेक्ट भक्ति ही वास्तविक परफेक्शन है भगवान के प्रति प्रेम हो भक्ति हो तो यही मनुष्य जीवन की सफलता है या किसी भी जीव की जीव के जीवन की सफलता है तो देवराजेंद्र कहते हैं कि अहो दानव सिद्ध असी आप सिद्ध आपका जीवन धन्य क्यों जस ते मति विदृशी क्योंकि आपकी ऐसी मति है ऐसा अंडरस्टैंडिंग है इतनी शुद्ध बुद्धि आपकी है कैसे प्रमाण है कि मेरी शुद्ध बुद्धि है क्योंकि भक्त सर्वात्मनात्मान सुहृदम जगदीश्वर आपने भगवान की बहुत सेवा की है भक्त का अर्थ तो सेवितवान आपने भगवान की कृष्ण की बहुत सेवा की है बहुत भक्ति किया है और भगवान के गुण बोल रहे हैं इंद्रदेव आत्मान सुहृदम जगदीश्वरम तीन विशेषता बता रहे हैं और सर्वात्मना आप मन से वचन से शरीर से सब प्रकार से भगवान की सेवा किए हैं भगवान की भक्ति किए हैं कैसे भगवान आत्मान जो समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजते हैं एक यह गुण बता रहे श्रीमद श्रीमद् भागवतम सुनने का मतलब है भगवान पर बारंबार विचार करते चलना है वृतरासुर भगवान की प्रशंसा कर रहे थे इंद्र देवता भगवान का भक्त होने से वृत्रासुर की प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान के गुण गा रहे हैं तो भगवान आत्मा है उसी में परम शब्द लगाया जाता है जो परम आत्मा कहा जाता है आत्मतत्वात मातृत्वात आत्मा ही परमो हरि हरि को श्री कृष्ण को आत्मा कहा जाता है आत और मां उसमें दो शब्द है आत्मा आत्मतत्वात मातृत्वात आत्मा ही परम हरि आत् का अर्थ है व्यापक जो सब जगह है और मां का अर्थ होता है कारण मां का वही अर्थ होता है जो मदर का अर्थ होता मां मां कहते भी हैं तो भगवान सब जगह हैं और सबकी मां है पिता हमस जगतो माता धाता पितामह भगवान गीता में कहते हैं पिता हमस जगतो अस जगत अहम पिता है मैं संपूर्ण जीवों का पिता हूं पूरे विश्व का तो कोई प्रश्न करे कि और मां कौन है मैं ही मां हूं पिता अहम अस्य जगत अस जगत अहम पिता माता धाता पिता मैं ही सबका बाप हूं मैं ही सबकी मां हूं मैं ही पोषने वाला हूं और मैं ही दादा भी हूं पितामह तो स्पष्ट भगवान बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूं तो मां का अर्थ है कारण जन्म देने वाला तो संपूर्ण विश्व के जन्मदाता भगवान हैं और सब जगह व्यापक हैं इसीलिए उनको आत्मा कहा जाता है और परम उसमें विशेषण दिया जाता है सुप्रीम परम आत्मा परमात्मा तो पहला विशेषण भगवान का दे रहे हैं कि भगवान सबको जन्म दिए हैं और सब जगह है और दूसरी विशेषता बता रहे हैं सुहृदम वे समस्त जीवों के वेल विषय हैं सुहृद भगवान सब समय जीवों के हित की ही क्रिया में लगे रहते हैं कैसे सबका हित होगा कैसे पालन पोषण होगा सबको ज्ञान मिलेगा सबके हित की बात करते रहते हैं बार बार अवतार लेते हैं गीता जैसा प्रवचन करते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं फिर प्रभुपाद जी जैसे पंकर को पार्षद को भेजते हैं यह भगवान की कृपा है जीवों के प्रति भगवान उदासीन नहीं है ये नहीं भगवान सोचते हैं कि हम गोलोक में बांसुरी बजा कर करेंगे और सब मरो जो कुछ भी हो हमको क्या मतलब ऐसा नहीं है वो सुहृद है जैसे इस जगत में माता पिता बच्चों के स्वाभाविक हितैषी हैं उसी तरह से भगवान समस्त जीवों के सुहृद हैं सुहृदम सर्वभूतान और जगदीश्वरम और संपूर्ण जीवों के वे स्वामी हैं कंट्रोलर सभी उनके अधीन हैं जगत के भीतर ब्रह्मा शिव इंद्र आदि सभी आ जाते हैं तो यह देवराज इंद्र का वाक्य है कि भगवान विष्णु सभी जीवों के परमात्मा हैं सबके हृदय में हैं सबके सुहृद हैं और सबके नियामक हैं कंट्रोलर हैं तो ऐसे प्रभु के आप भक्त हो इसलिए तो आपका जीवन धन्य है धन्य हो देवराजेंद्र के कहने का आशय था कि वह हो हम लोग ऐसे नहीं हैं भगवान के भक्त जितने आप हैं देवराजेंद्र एक बहुत बड़े भक्त हैं इसीलिए भक्ति की महिमा को पहचान रहे हैं जो व्यक्ति भक्त होता है वही भक्ति की महिमा को पहचान सकता है इंद्रदेव स्वयं में भक्त हैं भगवान की बहुत प्रिय है एक घटना से और भी पता लगता है एक बार जब हिरण कशपू तपस्या कर रहा था तो तपस्या करते करते उसके देह पर दीमक जम गए और उसके चाम को और मांस को सब खा गए पूरा पूरा और ऊपर दीमक जम गया मिट्टी घास सब जम गया तो देवताओं ने सोचा कि ये पापी अपने पाप से ही मर गया मरा नहीं था बाद में ब्रह्मा जी आकर के कमंडल का जल छिड़के गंगा जी का जल तो फिर से उसका शरीर सोने जैसा हिष्ट पुष्ट हो गया लेकिन जब तपस्या कर रहा था दीमक उसके देह को खून को मांस को खा गए तब तो देवताओं को बड़ा अच्छा अवसर मिला हिरण्य कस्पू की राजधानी पर आक्रमण करने का तो आक्रमण किए बहुत लूटे देवता लोग ये सब चुरा चुरा कर छीन करके लाया था स्वर्ग से हिरण कसपुर तो वो तपस्या तो करा था तो देवता लोग विमान सजा सजा करके ले जा रहे थे सारा समय तो इंद्रदेव की दृष्टि पड़ी उसकी पत्नी पर कयाधु पर तो गर्भवती थी तो इंद्र देवता ने सोचा कि ये तो कस्पू का अंश है तो यह भी सेकंड हिरण कस्पू ही होगा इसलिए ले चलो इस स्त्री को और जब ये प्रसव करेगी जन्म होगा बच्चे का तो बच्चे को मार देंगे देवताओं को भी तो डर होता है ना हिरण्यकश्यप ये जवान होगा तो फिर ये क्या हिरण्यकश्यप से कम होगा तो वो तो मर गया लगभग अनुमान कर ले वो तो मर ही गया लेकिन ये है इसका बच्चा गर्भ में तो स्त्री का अपहरण के लात किसी बुरे भाव से नहीं देवराजेंद्र केवल बच्चे का वध करने के लिए लेकिन ले चलो वो बेचारे रो रहे थे ये प्रहलाद महाराज स्वयं ही कथा कहे हैं असुर बालकों से अपने विषय में सातवें स्कंध में वो ले जा रहे थे तो रास्ते में श्री नारद जी मिले नारद जी ने कहा कि देवराज यह असुर नहीं है बहुत बड़ा भक्त है भागवत पुरुष है इस स्त्री के गर्भ में इसलिए इसका वध मत कीजिए और आप वध कर भी नहीं सकते हैं अनंतानुचरो बलि यह बहुत बलवान है भगवान का भक्त है इसका वध नहीं कर पाएंगे तो अपराध से बचिए छोड़िए इसको जाने दीजिए इस स्त्री को तो जब नारद जी ने कहा कि उसके गर्भ में भगवान है भक्त है तब श्री देवराज इंद्र छोड़ दिए उस स्त्री को और गर्भ में बच्चा है इसके लिए परिक्रमा करने लगे कि असुर की स्त्री है दैत्य है और बच्चा दैत्य का अंश है लेकिन यह जान करके कि भगवान का भक्त है देवराज इंद्र परिक्रमा करने लगे लिखा है परिक्रमा करके और गर्भ के बच्चे को प्रणाम करके और उस मां को प्रणाम करके वे गए तो ये, है भक्त भक्त का स्वभाव इंद्र देवता पहचान गए वृत्रासुर की महिमा को कि वास्तव में यह परम शुद्ध भक्त खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं अहो दानव सिद्ध से जस्यते मतिरीदृशे भक्त सर्वात्मनात्मान सुहृदम जगदीश्वरम अहो दानव आप सिद्ध हो क्योंकि आपने सब प्रकार से भगवान की सेवा किया है सर्वात्मना कभी कभी संस्कृत में मन को भी आत्मा कहते हैं शरीर को भी आत्मा कहते हैं तो सर्वात्मा का अर्थ सब प्रकार से आपने कृष्ण का भजन किया है भक्ति किया है इसलिए आप का जीवन धन्य है आप सिद्ध हैं धन्य है आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया इस तरह शत्रु के साथ ऐसी बात हो रही है और वृत्रासुर जी उनको कह रहे थे कि वज्र उठाइए मेरा वध कीजिए वो भी भगवान की महिमा गा रहे थे देवराज इंद्र भी भगवान की महिमा गा रहे हैं अब कहते हैं भवान तारसिन मायाम वही वैष्णवीम जन मोहिनीम जद विहाया सुरम भावम महापुरुषताम गत निश्चित ही आपने भगवान विष्णु की माया को जीत लिया है जो माया सारे जीवों को मोह में डालती है